शिक्षा का जगत सदा से क्रांति का विरोधी रहा शिक्षा सदा से प्रतिगामी रही है रिएक्शनरी रही है ऐसा होने का कारण था क्योंकि तक की सारी शिक्षा अतीत उन्मुक्त रही है पीछे की तरफ देखती रही यही कारण है कि शिक्षकों ने आज तक क्रांतिकारी विचार पैदा नहीं किए शिक्षकों के ऊपर आज तक किसी आविष्कार का इल्जाम नहीं लगाया जा सकता शिक्षकों ने कोई आविष्कार नहीं किया शिक्षालय और विद्यापीठ नए का अब तक स्वागत नहीं करते रहे हैं उसका कारण था कि पुराने को नए पीढ़ी तक पहुंचा देना ही उनका काम था वो काम पूरा हो जाए शिक्षक का काम पूरा हो जाए ये अब तक ठीक था लेकिन आगे ठीक ना हो सकेगा शिक्षा के सामने एक नई बात और पैदा हो गई है अतीत का ज्ञान ही युवकों को नहीं दे देना है युवकों को भविष्य का नागरिक भी बनाना है एक काम अब तक किया गया दूसरा काम पहली बार शिक्षक के हाथ में आया अब तक शिक्षक अपने को उस काम को पूरा करने में समर्थ नहीं बता पा रहा अतीत के ज्ञान को दे देना अत्यंत यांत्रिक करते हैं भविष्य के नागरिक को निर्मित करना बहुत सृजनात्मक बहुत क्रिएटिव है अतीत के ज्ञान को दे देने के लिए बहुत बुद्धिमान लोगों की जरूरत नहीं है सच तो यह है कि बहुत बुद्धिमान लोग अतीत के ज्ञान को देने के काम में लगाए ही नहीं जा सकते बुद्धिमान सदा भविष्य उन्मुख होता है बुद्धिमान को अतीत का ज्ञान दूसरों को सौंपने का काम बहुत व्यर्थ का मालूम पड़ेगा अतीत के ज्ञान को नई पीढ़ी को सौंपने के लिए बहुत मध्यम वर्गीय बुद्धि की जरूरत है लेकिन भविष्य का नागरिक बनाने के लिए प्रथम कोटि की प्रतिभा जरूरी है शिक्षक का व्यवसाय समादृत हो तो रहा है लेकिन प्रथम कोटि की प्रतिभा शिक्षक की तरफ आकर्षित नहीं हुई परिणाम में अब तक तो ठीक था लेकिन नया जुम्मा जो शिक्षक के ऊपर आया है उसे पूरा करना मुश्किल पड़ेगा इस नए जुम्मे को थोड़ा सा समझ लेना जरूरी है बंधे बंधाए उपलब्ध ज्ञान को देना बहुत सरल है लेकिन नए ज्ञान की खोज की क्षमता और प्यास पैदा करना बहुत कठिन है और भविष्य का नागरिक यदि बनाना हो नई पीढ़ी को तो केवल स्मृति मेमोरी के आधार पर नहीं बुद्धि इंटेलिजेंस के आधार पर ही उसे बनाया जा सकता है पिछली सारी शिक्षा स्मृति पर केंद्रित है और इसीलिए अक्सर ऐसा हुआ है कि विश्वविद्यालय जिन्हें गोल्ड मेडल देता है जिंदगी उन्हें मिट्टी के मेडल भी नहीं दे पाती वे गोल्ड मेडलिस्ट जिंदगी में कहा खो जाते हैं कुछ पता नहीं चलता जिंदगी में उनकी कहीं कोई उपाय देकर नहीं मालूम पड़ती है वे जो विश्वविद्यालय में चमकते हुए सितारे थे वे अचानक जिंदगी में बुझ जाते हैं और रात हो कुछ कारण है जिंदगी मांगती है बुद्धिमत्ता इंटेलिजेंस विजडम और विश्वविद्यालय देता है स्मृति मेमोरी जिंदगी में स्मृति काफी नहीं है और ये भी बड़े मजे की बात है कि बहुत ज्यादा स्मृति होना अनिवार्य रूप से बहुत बुद्धिमान होने का लक्षण नहीं है आमतौर से उल्टा होता है बहुत बुद्धिमान आदमी की स्मृति कमजोर होती है बहुत बुद्धिमान लोग भुलक्कर होते असल में स्मृति बिल्कुल यांत्रिक प्रक्रिया है उससे बुद्धि का कोई संबंध नहीं लेकिन अब तक की सारी शिक्षा स्मृति को ही आरोपित करने में व्यय होती रही है जितने पीछे हम लौटेंगे उतनी स्मृति की शिक्षा गहरी थी स्मरण करा देना ही शिक्षक का काम था रटा देना पक्का मजबूत मन में बिठा देना संस्कारित कर देना कंडीशनिंग कर देना ही शिक्षा का काम शिक्षा ने बुद्धिमत्ता पैदा नहीं की शिक्षा ने स्मृति पैदा की जो पुनरुक्त कर सकती है इसलिए हमारी सारी परीक्षाएं स्मृति की परीक्षाएं हैं बुद्धिमत्ता की नहीं इंटेलिजेंस की नहीं हम परीक्षाओं में सिर्फ इस बात की जानकारी कर लेना चाहते हैं कि कौन व्यक्ति ठीक से दोहरा सकता है लेकिन ठीक से दोहराने वाला आदमी जिंदगी में खो जाएगा क्योंकि जिंदगी रोज नए सवाल उठाती है और ठीक से दोहराने वाला सिर्फ पुराने उत्तर दोहरा सकता है पुराने उत्तर जिंदगी के नए सवालों के सामने हार जाते हैं बेमानी हो जाते हैं बंधी हुई टेक्स्ट बुक में जो लिखा है परीक्षा दे देना एक बात है जिंदगी की कोई बंधी हुई परीक्षा नहीं जिंदगी बहुत चपल बहुत चंचल उसकी परीक्षा का बंधा हुआ हिसाब ये किताबें पीछे कहीं उत्तर नहीं लिखे जिनकी चोरी की जाती तो जिंदगी में जिसे हम विश्वविद्यालय में प्रतिभा कहते हैं वो जिंदगी में प्रतिभा ही हो तो जाता है और कई बार तो ऐसा होता है कि विश्वविद्यालय में जिसकी कोई गणना न थी वो जिंदगी में बड़ा प्रतिभावान सिद्ध हो जाए अगर हम दुनिया के प्रतिभाशाली लोगों के नाम उठाकर देखें तो उनमें से गोल्ड मेडलिस्ट है ही कौन हो कुछ कारण है स्मृति पर बहुत आधार खतरनाक है फिक्र करनी पड़ेगी बुद्धि के विकास की शिक्षा में क्रांति का पहला आधार होगा स्मृति को केंद्र से हटाएं बुद्धि को केंद्र पर रखें पहला सूत्र आपसे बात करना चाहता हूं स्मृति नहीं क्योंकि स्मृति का काम तो अब यंत्रों से भी लिया जा टेप और कंप्यूटर भी काम कर देंगे अब बहुत जल्दी छोटे कंप्यूटर बन जाएंगे जिनको एक आदमी खींचे में लेते चल सके और जो भी उत्तर पूछना हो पूछ ले फिर गोल्ड मेडलिस्ट का क्या होगा उसका कोई उपाय उसका कोई उपयोग नहीं रह जाने वाला उपयोग खत्म हो गया है तो रोज रोज स्मृति का उपयोग कम हुआ है बुद्धि का उपयोग बढ़ा है पुरानी भाषाएं अगर हम एक दृष्टि डालें तो हमारे समझ में आएगा संस्कृत अरबी ग्रीक या लैटिन इस भांति से बनाई गई थी कि स्मरण की जा सके इसलिए पुरानी भाषाएं गद्ध में नहीं पद्ध में लिखती कविता में लिखती पुरानी सारी भाषाएं ऐसी हैं कि उनको गाया जा सके जैसे संस्कृत या अरबी या ग्रीक गाने से कोई चीज जल्दी याद की जा सकती है इसलिए पुरानी भाषाएं कविता पर जोर देती थी ये जान के हैरानी होगी कि संस्कृत में गणित भूगोल ज्योतिष और वैद्यक की किताबें तक काव्य में लिखी गई उनको याद करने का सवाल था बड़ा सवाल याद करने का था कि कोई चीज याद कैसे हो सके रिदिम अगर हो तो याद जल्दी हो जाए लेकिन जैसे जैसे मनुष्य की बुद्धि विकसित हुई उसे दिखाई पड़ा कि सवाल याद करने का नहीं सवाल नए को खोजने का याद किया जाता है पुराने को खोजा जाता है नए को और जो कौन और जो विद्यार्थी और जो शिक्षा याद करने पर ही निर्भर हो नए को नहीं खोज पाएगी नए को याद नहीं किया जा सकता याद सिर्फ पुराने को किया जा सकता है नए को तो खोजना पड़ेगा डिस्कवर करना पड़ेगा हमारे विद्यालय अब तक के विद्यालय नए की खोज के लिए कुछ भी नहीं कर रहे पुराने को याद करा देने की चेष्टा में संलग्न स्मृति बहुत ज्यादा से ज्यादा हमें संग्रह बना सकती है लेकिन व्यक्तित्व नहीं देती आत्मा नहीं देती नए की खोज कैसे हो स्मृति पर जोर कम करना पड़े प्रतिभा पर जोर देना पड़े मेरी दृष्टि में दो तीन बातें ख्याल में आती हैं पहली बात तो ये अब तक का शिक्षक जोर देता है कि बंधा हुआ उत्तर दो वही सही है भविष्य के शिक्षक को जोर देना पड़ेगा बंधा हुआ उत्तर कृपा करके मत दो नया उत्तर खोजो नए उत्तर का ज्यादा सम्मान होगा चाहे नया उत्तर थोड़ा गलत ही क्यों ना हो पुराने उत्तर का सम्मान नहीं होना चाहिए चाहे पुराना उत्तर बिल्कुल ठीक ही क्यों ना हो क्योंकि बिल्कुल ठीक उत्तर भी अगर सिर्फ दोहराया जाता है तो प्रतिभा को विकसित नहीं करता और नया उत्तर अगर थोड़ा गलत भी है तो भी प्रतिभा को विकसित करता है असल में भूल करने का भय हमें छोड़ देना चाहिए भूल वो करेगा ही जो नए रास्ते पर चलेगा सिर्फ वही आदमी भूल नहीं करता जो बंधे हुए लकीरों पर घूमता है नए की खोज में भूल अनिवार्य है मेरी अपनी दृष्टि है कि अब तक शिक्षा शास्त्री भूल से इतना डरा रहा है कि नए में कदम ही नहीं रख पाते हाँ भूल एक बार ही करनी चाहिए रोज नई भूल करनी चाहिए पुरानी भूल नहीं दोहरानी चाहिए क्योंकि पुरानी भूल दोहराने से फिर बुद्धि को नुकसान पहुंचता है जो आदमी रोज नई भूलें कर सकता है उसकी प्रतिभा निरंतर विकसित होती चली जाती है नई भूलें करना बहुत बड़ा था दुनिया में जितने आविष्कार हुए हैं वे उन लोगों से हुए हैं जो भूल करने के लिए तैयार है नहीं तो नए की खोज नहीं हो सकती नए के साथ भूल तो होगी ही मैंने सुना है कि आइंस्टीन अपने एक युवक खोजी के साथ एक प्रयोग में बताया कोई डेढ़ वर्ष प्रयोग चल रहा था और 700 बार असफलता आ गई 700 बार प्रयोग करने पर बार बार असफलता हुई वो जो युवक था वो थक गया और हार गया लेकिन आइंस्टीन रोज सुबह फिर ताजा बाधा हुआ लिबर्टी में चला आता और फिर काम में लग जाता है उस युवक ने कहा हद हो गई सात सौ बार हार चुके हैं सात सौ बार भूल हो चुकी आप थकते नहीं मैं तो बुरी तरह थक गया और ऊब गया आइंस्टीन हाँ, ने कहा मैं तो सोचता था तुम जवान हो तो तुम इतने जल्दी बूढ़े हो भूल करने से इतने जल्दी थकते हो मैं तो बहुत प्रसन्न हूं उस युवक ने कहा मैं भी हैरान हूं आपकी प्रसन्नता को देखकर 700 बार भूल करने के बाद भी आप प्रसन्न हैं आइंस्टीन ने कहा तुम्हारे देखने का ढंग ही गलत है मैं इस तरह सोचता हूं कि 700 रास्ते हमने खोज लिए 700 रास्ते गलत हो गए अब ठीक रास्ता करीब आता जा रहा है अब सौ रास्तों को भटकने की जरूरत न रहेगी हो सकता है सात सौ एक माह रात का ठीक हो तो हमने सात को काट डाले हमारा प्रयोग असफल नहीं हो रहा हम असफलता को काट रहे हम सफलता के करीब पहुंच रहे आखिर वो क्षण आ जाएगा कि भूल चूक के सब रास्ते बंद हो जाएंगे और ठीक रास्ता मिल जाएगा सत्य की खोज भूल से गुजर के ही हो सकती है सत्य का मतलब है हमने असत्य के सब द्वार खोज डाले और गलत पाए फिर अंत में वही शेष रह गया है जो सत्य और जिंदगी बहुमुखी बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल है उसमें तो खोजना पड़ेगा सत्य कहीं रेडीमेड नहीं रखा कि हम जाएंगे और मिल जाएगा भूल करनी पड़ेगी चूकना पड़ेगा भटकना पड़ेगा सत्य की खोज ऐसी ही है जिससे कोई पहेली में भटकता है लेकिन जितनी भूलें हो चुकती हैं उतने हम सत्य के करीब पहुंचने लगते हैं क्योंकि उतनी भूलें करने का फिर कोई उपाय नहीं रह जाता है पुरानी शिक्षा जोर देती है भूल मत करो और अगर भूल नहीं करनी है तो जो बंधा हुआ उत्तर है उसको ही दोहराना पड़ेगा अगर स्मृति से मुक्त और बुद्धि पर केंद्र रखना हो तो हमें ध्यान रखना होगा कि भूल करने का स्वागत करना चाहिए कक्षा में उस विद्यार्थी को सर्वाधिक आदर मिलना चाहिए जो सर्वाधिक भूलें करने के लिए निरंतर तत्पर है और जो और नई भूलें करने के लिए आतुर है लेकिन जो दोहराने की उत्सुकता में नहीं है कुछ खोज लेने की उत्सुकता में तो हम बुद्धिमत्ता को विकसित करेंगे और ध्यान रहे अब तक ऐसा ही समझा जाता था कि पिछली पीढ़ी ज्यादा जानती थी उससे पिछली पीढ़ी और ज्यादा जानती थी जितनी कोई पुराना आदमी उतना ज्यादा जानता था वो बात एकदम गलत है पिछली पीढ़ी से नई पीढ़ी ज्यादा जान सकेगी संभावना आगे आने वाले बच्चे और ज्यादा जानेंगे इसकी संभावना और ज्यादा है ज्ञान रोज विकसित हो रहा है ज्ञान का विस्तार रोज फैलता चला जा रहा है इसलिए ध्यान रहे पुरानी पीढ़ी नए बच्चों के मस्तिष्क को इस भांति न पकड़ ले कि उनके विकास और विस्तार में बाधा बन जाए अब तक शिक्षक बाप जो जानता था वो बेटे तक पहुंचाने का काम करता था अब शिक्षक को यह काम भी करना पड़ेगा कि बाप जितना जानता था बेटे को उससे ज्यादा जानने की यात्रा पर प्रबंध करना इतना ही काम काफी नहीं है कि बाप जितना जानता था बेटा उतना जान ले काम इतना है कि बेटा बाप को पराजित करके आगे जा सके अब तक शिक्षक बाप का एजेंट था और बेटे को बाप की शक्ल में डाल रहा था अब शिक्षक को बेटे के पक्ष में होना पड़ेगा और बेटा बाप की शक्ल में न ढल जाए इसकी चिंता करनी पड़ेगी ताकि बेटा आगे जा सके निश्चित ही बाप जिस दुनिया का नागरिक था बेटा उस दुनिया का नागरिक नहीं होगा और बाप ने जो दिन देखे बेटे नहीं देखेंगे बेटे नए रास्तों पर चलेंगे नई दुनिया को खोजेंगे इसलिए भूल हो जाएगी अगर बेटा बाप की शक्ल में ढल गया तो बेटा नए भविष्य में जीने में असमर्थ हो जाएगा कमजोर और पंगु हो जाएगा हम अपना ज्ञान तो दें लेकिन हमारा ज्ञान नए ज्ञान के आने में बाधा न बने हमारा ज्ञान नए ज्ञान की खोज में प्रेरणा बने ये शिक्षक को ध्यान में लेना पड़ेगा अब तक ऐसा नहीं अब तक शिक्षक का काम यही था कि वो बेटे को बाप की दुनिया में फिट कर दे वो जो बाप की दुनिया थी एक ढांचा था एक व्यवस्था थी बेटा उसमें फिट कर दिया जाए इसलिए शिक्षक बेटे को काटने छांटने तराटने और बाप की दुनिया में मौजू बना देने की चेष्टा में संलग्न था और वही शिक्षक कुशल था जो ये काम कर देता था और वही विद्यार्थी कुशल था जो इस काम में करने में शिक्षक का सहयोगी हो जाए नहीं आगे ये नहीं हो सकता आगे हमें बेटे को ऐसा बनाना है कि वो नए अनजान और अज्ञात के लिए तैयार हो सके ज्ञान बीते में उसे फिट नहीं कर देना है उसे अज्ञात के लिए तैयार करना है शिक्षा के सामने बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि शिक्षक के लिए सबसे बड़ी कठिनाई यही है शिक्षक भी पिता की पीढ़ी का प्रतिनिधि है ये सबसे बड़ी कठिनाई है शिक्षक भी पिता की पीढ़ी का प्रतिनिधि है वो भी जाने अनजाने किसी बेटे का पिता है वो भी अतीत से बंधा है उसका अहंकार भी कहता है कि हम जानते हैं और ज्यादा जानते हैं वो अहंकार अब महंगा पड़ेगा उसे समझना होगा कि हम जितना जान सकते थे हमने जाना लेकिन तुम हमसे ज्यादा जान सकोगे तुम हमसे आगे जा सकोगे और हम तुम्हें उतना बता देते हैं जहां तक हम गए और आगे की यात्रा तुम कर सको इसके लिए मुक्त किए देते हैं लेकिन शिक्षा ने अब तक ये नहीं किया और इसलिए आज शिक्षा के जगत में जो बेचैनी है मेरी दृष्टि में उस बेचैनी का एक कारण ये भी है बच्चे में जाना चाहते हैं शिक्षक अतीत में ले जाना चाहते हैं दोनों के बीच टेंशन तनाव खिंचाव बच्चे और शिक्षक एक दूसरे की तरफ पीठ करके खड़े आमने सामने मुंह नहीं रह गया पहले ऐसा कभी ना हुआ उसके दो कारण एक कारण तो यह था कि युवक घटना पहली है युवक पहले कभी था ही नहीं अतीत के इतिहास में युवक कभी था ही नहीं युवक बिल्कुल बीसवीं सदी की घटना है वो जिसको यंगर जनरेशन हम कहें युवा पीढ़ी वो बीसवीं सदी की घटना है वो पहले कभी थी ही नहीं वो बिल्कुल नई घटना है और हमने युवक का कभी सामना ही न किया था पहली तरफ से युवक पैदा हुआ उसके कारण थे हम युवक होने ही न देते थे किसी को पहली तो तरकीब ये थी कि सेक्सुअल मेच्योरिटी के पहले हम शादी कर देते थे बाल विवाह करते थे बाल विवाह युवा पीढ़ी को पैदा नहीं होने देता ये बहुत सोचने जैसी बात है बाल विवाह युवा पीढ़ी को पैदा नहीं होने देता था क्योंकि जैसे ही बच्चे यौन की दृष्टि से प्रौढ़ होते थे ग्रस्त हो जाते थे उनके बच्चे पैदा होने लगते थे और एक चक्कर शुरू हो जाता था जो बूढ़े होने का चक्कर वो युवा नहीं हो पाते थे अब किसी लड़के का लड़का हो गया तो उसकी उम्र कितनी ही हो वो बूढ़ी दुनिया का हिस्सा हो गया वो बाप हो गया और बाप की तरह सोचने लगा वो अपने लड़के को सुधारने में लगे कि खुद बिगड़ने में लगे और तो कठिनाई खड़ी होगी उसके सामने सत्रह अठारह साल का जवान बाप हो जाए तो जवान कभी हो नहीं पाता पहला मौका है कि हम 25 साल तक विवाह से युवकों को रोक रहे बचपन खत्म हो जाता है तेरह चौदह साल में और बुढ़ापे की यात्रा 25 साल में शुरू होती है दस साल का गैप है बीच उस गैप में यंगर जनरेशन पैदा हुई वो जो बीच में दस साल का खंड है उस खंड में बच्चे भी नहीं है हम और हम बूढ़े होने की यात्रा पर भी नहीं गए दस साल में जवान पैदा हुआ ये जवान बिल्कुल नई घटना है दुनिया इस जवान को हमने पहली दफे देखा इसलिए इस जवान के साथ क्या व्यवहार करें ये हमें भी पता नहीं और ये जवान हमारे साथ क्या व्यवहार करे इसको भी पता नहीं नई घटना में ऐसा होना स्वाभाविक है और भी एक बात ध्यान रखनी जरूरी है मनुष्य के पास जो शक्ति है जीवन की वो अगर बहुत जल्दी यौन के मार्गों से बहनी शुरू हो जाए तो व्यक्ति के भीतर अतिरिक्त शक्ति कभी इकट्ठी नहीं हो पाती अगर हम 10, 11 साल 8 साल 9 साल के बच्चों का विवाह कर दें तो उनकी यौन शक्ति बहनी शुरू हो जाए उनके पास अतिरिक्त शक्ति कभी इकट्ठी नहीं होती दुनिया में नई पीढ़ी पैदा हुई है क्योंकि यौन का निकास नहीं है और यौन की शक्ति अतिरिक्त इकट्ठी हो जाती है इस अतिरिक्त शक्ति के ही द्वारा खोज की जा सकती है शिक्षित हुआ जा सकता है संस्कृति को जन्म दिया जा सकता है इस अतिरिक्त शक्ति के द्वारा ही विज्ञान साहित्य सभ्यता को विकसित किया जा सकता है लेकिन यही अतिरिक्त शक्ति विनाश का कारण भी बन सकती है अगर इसे ठीक मार्ग न बन मिले तो ये डिस्ट्रक्टिव हो सकती है शायद आप जान के हैरान होंगे कि अमेरिका के मनोवैज्ञानिक आज अमेरिका में ये सलाह दे रहे हैं कि बाल विवाह फिर से शुरू कर दिया जाए किन्से ने अपनी रिपोर्ट में 10 साल की मेहनत के बाद ये खबर की है अमेरिका की सरकार को कि बाल विवाह के लिए हमें प्रोत्साहन देना चाहिए क्योंकि युवकों के पास इतनी शक्ति इकट्ठी हो गई है कि कहीं वो डिस्ट्रक्टिव न हो जाए कहीं वो पूरे समाज को न हो जाए ये इस बात की खबर है कि अतिरिक्त शक्ति खतरनाक हो सकती है लेकिन अतिरिक्त शक्ति सृजनात्मक भी हो सकती है सृजन और विध्वंस एक ही शक्ति से होते हैं आज जो बच्चे पत्थर फेंक रहे हैं बसों पर स्कूल के कांच तोड़ रहे हैं शिक्षक के विरोध में खड़े हैं वे सृजनात्मक भी हो सकते हैं सिर्फ उनके पास अतिरिक्त शक्ति और इस अतिरिक्त शक्ति का नियोजन शिक्षा के सामने एक नया सवाल है स्मृति की जगह बुद्धिमत्ता को जगह देना है और अब तक की शक्ति जो पैदा हुई है उसका नया नियोजन करना है वो नियोजन नहीं हमें ख्याल में नहीं अगर एक युवक दो घंटे तक हॉकी खेलता रहे तो पत्थर फेंकने की क्षमता उसमें कम हो जाती है क्योंकि हॉकी फेंकने में बाल को चोट मारने में गेंद को हमला करने में वही शक्ति निकल जाती है जो बस के ऊपर पत्थर फेंकती है जो कांच तोड़ती शक्ति वही है नियोजन का सवाल है हमें अब तक ख्याल था कि बच्चे खेलते असल में दुनिया में जवान कभी था नहीं इसलिए जवान की अतिरिक्त शक्ति के लिए खेल भी ठीक से विकसित नहीं हो पाए और हमारे मुल्क में तो और कुछ नहीं कि जवान करीब करीब खेल ही नहीं रहा और मैं मानता हूं कि जब तक जवान तीन चार घंटे खेलने में नियोजित न हो तब तक बसें टूटती रहेंगी और कांच फूटते रहेंगे ये जवान अपनी तरफ से खेलने का रास्ता खोज रहा है बूढ़े इसको गंभीरता से ले रहे हैं जवानों के लिए ये खेल से ज्यादा नहीं बूढ़े इसे गंभीरता से ले रहे हैं ये उनके लिए खेल अतिरिक्त शक्ति बाहर निकलना चाहती है ओवरफ्लो होना चाहती है अतिरिक्त शक्ति तो हमने इकट्ठी कर ली फिलो का कोई मार्ग नहीं है दूसरी बात ये जो अतिरिक्त शक्ति है ये केवल स्कूल या कॉलेज में पांच घंटे बैठ के टेबल पर पढ़ने से नहीं निकल पाती बल्कि पांच घंटे टेबल पर बैठने से और इकट्ठी हो जाती है स्कूल से बच्चों को निकलते आपने देखा होगा स्कूल से वे ऐसे निकलते हैं जैसे विग्रह से छूट गए किताबें फेंकते हुए बस्ता उछालते हुए सिलेटर फोड़ते हुए घर की तरफ भागते हैं और जिस दिन पता चल जाए कि कल छुट्टी है तो सारे वातावरण में चिल्लाहट मच जाती है छुट्टी वो कल इस कारागृह में वापस नहीं आना पड़ेगा पांच घंटे छह घंटे बच्चे बैठे हैं छोटे बच्चे उनको बिठाया हुआ है और छह घंटे उनकी बेचैनी इकट्ठी हो रही कहीं छह घंटे बच्चे इकट्ठे बैठ सकते हैं अगर छह घंटे बच्चे को आप घर में छोड़े तो आप देखें वो कितना दौड़ेगा कितना भागेगा वृक्ष पर चढ़ेगा नदी में कूदेगा लड़ेगा गिरेगा सब करेगा और छह घंटे वो बैठा रहा वो लड़ना दौड़ना वृक्ष पर चढ़ना वो सब इकट्ठा हो गया अब इसका क्या होगा कंडेंस इकट्ठा हो गया इसका क्या होगा इसका कुछ परिणाम होगा भयंकर वो भयंकर परिणाम हम भोग रहे शिक्षक को पुरानी पीढ़ी के लोग समझते हैं युवक बिगड़ गए गलत से उनका सोचना कोई बिगड़ नहीं गया है सिर्फ अतिरिक्त शक्ति इकट्ठी हो गई है उसका निष्कासन नहीं है और ये भी ध्यान रहे इस अतिरिक्त शक्ति के इकट्ठे होने के और भी कारण हैं जो पहले नहीं थे एक तो मैंने कहा बाल विवाह अतिरिक्त शक्ति को कभी इकट्ठा नहीं होने देता था दूसरा मैं आपसे कहूं दुनिया में स्वास्थ्य इतना अच्छा कभी भी नहीं था जितना अच्छा आज है दस बच्चे पैदा होते थे पुरानी दुनिया में तो आठ बच्चे मर जाते थे जिस दुनिया में दस बच्चे पैदा हों और आठ मरते हों उसमें दो बच्चे जो बचते थे वो भी अधमरे ही बचते थे वो भी ठीक से नहीं बच सकते पुरानी दुनिया में 50 प्रतिशत लोगों के चेहरों पर चेचक के दाग मिल जाते हैं मलेरिया था प्लेग था हैजा था न मालूम कैसी कैसी महामारियां थी उनकी वजह से अतिरिक्त शक्ति कभी इकट्ठी न हो पाती थी और आदमी मरा मरा जीता था इसलिए आज्ञाकारी था आज्ञाकारी सिर्फ मरे मराए लोग ही हो सकते जहां जिंदगी हो वहां थोड़ी आज्ञा का टूटना शुरू होगा और या फिर जिंदगी को नियोजित करने के लिए हमें चिंता करनी पड़ेगी मार्ग देना पड़ेगा इसलिए बेटे सदा सिर झुकाए हुए बाप की आज्ञा मानते असल में नो नहीं कहने के लिए अतिरिक्त शक्ति चाहिए हाँ कहने के लिए शक्ति की कोई जरूरत नहीं होती हाँ शक्तिहीन भी कर सकता है ना शक्तिशाली ही कर सकता है पुरानी पीढ़ी के बच्चों ने कभी ना न कहा क्योंकि इतनी शक्ति ही न न स्वास्थ्य था न ज्यादा उम्र थी न विटामिन थे न बीमारियों से लड़ने के लिए दवाइयां थी आदमी ऐसा जीता था बुझा बुझा दिया भी जल लेता है तेल कम हो तो भी लेकिन भगत के नहीं जल सकता और तूफानों से टक्कर लेने का विचार नहीं कर सकता लेकिन जब तेल पूरा हो और बाकी स्वस्थ हो तो फिर दिया धीमे धीमे नहीं चलता फिर वो भवक के चलता है फिर वो तूफानों से टक्कर लेना चाहता है फिर वो हवाओं से जूझना चाहता है और उस जूझने में आनंद लेना चाहता है युवक पहली तरफ से पैदा हुआ है वैज्ञानिक सुविधा ने युवक को पैदा किया है और इस युवक के साथ हम क्या करें हमें कुछ भी पता नहीं है क्योंकि पुराना कोई अनुभव काम नहीं देता शिक्षा में दूसरी क्रांति का सूत्र में ध्यान रखना होगा अतिरिक्त शक्ति का नियोजन वो कैसे हो अतिरिक्त शक्ति है उसका नियोजन कैसे हो वो कैसे सबलिमेटेड हो वो कैसे रूपांतरित हो वो कैसे नए मार्गों पर दिशाओं में गति करे और अगर उस नई शक्ति को नो कहना है तो वो किन चीजों के लिए नो करे वो भी नियोजन देना पड़ेगा हमें आदत रही है बच्चे से हाँ सुनने की ना सुनने की आदत नहीं रही लेकिन अब आने वाली पीढ़ियों के बच्चे रोज रोज जोर से ना कहेंगे तो हमें ना को किस दिशा में नियोजित करना है वो ध्यान में रखना पड़ेगा अगर बच्चों को पत्थर फेंकने का शौक है तो पत्थर कहाँ फेंके जाए इसका नियोजन करना पड़ेगा अगर बच्चे कुल्हाड़ी चलाना चाहते हैं तो वो किन दरख्तों पर जाके चलाएं उसकी हमें फिक्र करनी पड़ेगी अगर बच्चे दौड़ना चाहते हैं कूदना चाहते हैं चिल्लाना चाहते हैं तो हमें उसकी चिंता लेनी पड़ेगी कि वो कैसे चिल्लाए कैसे कूदें कैसे दौड़े जैसे मेरी अपनी दृष्टि ये है निश्चित ही जब अतिरिक्त शक्ति होती है तो वो नाचना चाहती है कूदना चाहती है लेकिन हमारे जैसे मुल्क में नृत्य का कोई उपाय नहीं तो लड़के क्लासों में नाच रहे और बूढ़ा मन राजी नहीं है कि नृत्य का हम कोई उपाय खोजे अब नृत्य में तो एक सौंदर्य है और क्लास में नाचने में एक कुरूपता है नृत्य तो एक अद्भुत सौंदर्य है और जब शरीर में अतिरिक्त शक्ति हो तो नृत्य एक आनंद है लेकिन वो रुका हुआ है उसका कोई उपाय नहीं है शायद इस समय पृथ्वी पर हम अकेली कौन है जो नाचना भूल गए नृत्य से कोई संबंध न रहा एक आदमी हो सकता है पूरी जिंदगी गुजार दे और नाचा नहीं हो उस आदमी की जिंदगी में कुछ कमी रह गई कुछ भूल हो गई शरीर की अपनी एक भाषा है और एक एक अंग के कंपन का अपना अनुभव है और शरीर का एक एक रोआ अनुभव करने में समर्थ है लेकिन जब पूरा शरीर एक रिदमिक गति से नाचता है तो उसकी शक्ति भी बढ़ती है और शरीर को एक सौंदर्य भी उपलब्ध होता है लेकिन वो नहीं होगा तो लड़के कूदेंगे फांदेंगे स्कूल के फर्नीचर पर कूदेंगे उसको तोड़ेंगे और तब हमें लगेगा बड़ी अनुशासनहीनता हो रही है तो मैं ये कह रहा हूं कि नियोजन करना पड़ेगा इस देश के युवकों को नृत्य भी सिखाना पड़ेगा लेकिन नृत्य से हम डरते नृत्य से हम भयभीत गीत गाना सिखाना पड़ेगा चिल्लाने की बहुत इच्छा है युवकों की अगर गीत गाना नहीं सिखाएंगे तो वो किसी को भी जिंदाबाद मुर्दाबाद चिल्लाएंगे फिर वो ये भी भूल जाएंगे कि किसके लिए चिल्ला रहे हैं फिर चिल्लाने का भी सुख हो जाएगा फिर उनके चिल्लाने से हम परेशान होते हैं हैरान होते हैं मुश्किल में पड़ते हैं युवकों को तोड़ने की इच्छा है तो हमें उन्हें तोड़ना सिखाना पड़ेगा बहुत कुछ तोड़ने जैसा है बहुत कुछ बनाने जैसा है बहुत कुछ मिटाने जैसा है इसे नियोजन देना पड़ेगा भविष्य के शिक्षक के सामने बड़े से बड़ा सवाल रोज खड़ा होता जाएगा और वो ये है कि अतिरिक्त शक्ति है सुपरफ्लुअस एनर्जी है उसे हम कैसे नियोजित करें उसे हम कैसे मार दे हम उसे कैसे नए मार्गों पर ले जाए हम कैसे उसे सृजनात्मक बनाए शिक्षक के सामने ये सवाल पहले कभी भी नहीं था क्योंकि जो बच्चे आते थे एक तो गरीब का बच्चा कभी स्कूल में आ ही नहीं पाता था उपाय ही नहीं था आने का बहुत थोड़े से बच्चे आते थे अमीरों के बच्चे होते थे सच तो यह है कि अमीर का बच्चा भी पिछली सदियों का आज के गरीब के बच्चे से ज्यादा कमजोर और बीमार यह हमें ख्याल में नहीं क्योंकि जो मिल गया है उसका हमें पता नहीं चलता अशोक ने बहुत शानदार कपड़े पहने होंगे लेकिन आज का साधारण लड़का भी जो कपड़े पहने वो भी अशोक को उपलब्ध नहीं और अकबर बहुत शानदार बिस्तर पे सोए होंगे लेकिन आज का साधारण आदमी भी जैसे बिस्तर पर सो रहा है उसका अकबर को कोई पता नहीं था जिंदगी बहुत विकसित हुई है बुद्ध के जमाने में सारी दुनिया की आबादी अंदाजन दो करोड़ थी सारी दुनिया की क्योंकि इससे ज्यादा आदमी बच ही नहीं सकते थे आदमी पैदा तो बहुत होते थे ख्याल रहे आदमी ज्यादा पैदा होते थे क्योंकि जितने नासमझ लोग हो उतने ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं आदमी तो बहुत पैदा होते थे लेकिन मर जाते थे बीस बीस पच्चीस पच्चीस बच्चे एक आदमी पैदा करता था और एक आध बच्चा बच जाए तो बहुत कृपा थी वो भी नहीं बचता था वो भी गोद लेने के लिए यहाँ वहां घूमने वाला बच्चे कम बचते थे मुश्किल से बचते थे वो जो थोड़े से बचे हुए बच्चे थे उनको पढ़ाने लिखाने का मार्ग एक था मास स्केल पर इतने बृहद पैमाने पर क्या आपको अंदाज है इस वक्त बच्चे कम हैं बूढ़े कम जवान ज्यादा है जवानों का विस्तार सबसे बड़ा है और ये विस्तार बढ़ता चला जाए क्योंकि जवानी की उम्र बढ़ती चली जाएगी जैसे जैसे औसत उम्र बढ़ेगी जवान का पीरियड बड़ा होता जाएगा और बच्चों का पीरियड छोटा होता जाएगा और बूढ़ों का पीरियड भी छोटा होता जाएगा ये ख्याल में हमें नहीं बच्चे जैसे आज अमेरिका में बारह वर्ष की लड़की मैच्योर होने लगी हिंदुस्तान में चौदह वर्ष की लड़की मैच्योर चौर होती और अमरीकी वैज्ञानिक का कहना है कि आने वाले दस वर्षों में अमेरिका में नौ वर्ष की लड़की मैच्योर हो जाएगी जितना स्वास्थ्य होगा जितना ठीक भोजन होगा जितनी ठीक हवा होगी उतना बचपन छोटा होता चला जाएगा जितना स्वास्थ्य होगा जितना ठीक इंतजाम होगा बीमारी से लड़ने का बुढ़ापा छोटा होता चला जाएगा बर्तन रसल नब्बे वर्ष की उम्र में भी शादी कर सकता है इधर हमारे बूढ़े थोड़े हैरान होते हैं कि कैसा खराब आदमी खराब आदमी नहीं है नब्बे वर्ष में जब किसी कौम में शादी हो सकती तो उसका मतलब है जवानी का फासला बड़ा हो गया जवानी लंबी हो गई नब्बे वर्ष का आदमी भी एक अर्थ में जवान हम सोचते हैं कि बूढ़ा शादी करे तो बेहूदी बात है उसका कारण है उसका कारण यह है कि हम ये सोच ही नहीं सकते कि बूढ़ा भी जवान हो सकता है आज रूस में डेढ़ सौ वर्ष की उम्र के हजारों लोग अगर डेढ़ सौ वर्ष का एक आदमी होगा तो उसकी जवानी 120 वर्ष तक तो जाने देंगे कि नहीं जाने देंगे जवानी का फासला बड़ा हो जाएगा और जितनी ज्यादा देर तक कोई आदमी जवान रहेगा उतनी कम देर तक बच्चा उतनी कम देर तक बूढ़ा रहेगा बुढ़ापा सिकुड़ता जाएगा ये भी हो सकता है कि वैज्ञानिक सुविधा पूरी तरह जुड़ जाए तो बुढ़ापा जैसी चीज विदा हो जाए आदमी मरते दम तक जवान रह सके ये बहुत कठिन नहीं ये संभव और बचपन भी सिकोता चला जाए क्योंकि जितनी हमारी समझ बढ़ती है उतना बचपन को सिकोड़ना होगा अभी नई से नई खोजें ये कहती हैं कि चार वर्ष की उम्र में बच्चा अपनी जिंदगी का पचास प्रतिशत सीख लेता है ये बड़ी सोचने जैसी बात है चार वर्ष की उम्र का बच्चा अपनी जिंदगी का पचास प्रतिशत सीख लेता है और चार वर्ष की उम्र तक सीखने की जितनी क्षमता है वो चार वर्ष के बाद निरंतर कम होती चली जाती है इसका मतलब इसके इम्प्लीकेशन बहुत गहरे हैं शिक्षक को और शिक्षा शास्त्री को विचार करना पड़ेगा कि शिक्षा हमें कब शुरू करनी चाहिए सात साल में छह साल में नहीं शिक्षा हमें दो साल में शुरू करनी पड़ेगी क्योंकि सीखने का सबसे ज्यादा कीमती और ग्राहक क्षण चार साल के पहले और अगर हमें ठीक से सिखाना है तो हमें चार साल के भीतर कीमती सब बातें सिखा देनी चाहिए जिंदगी के मूल आधार रख देने चाहिए लेकिन चार वर्ष तक तो हम कोई आधार ही नहीं रखते चार वर्ष तक तो बच्चा ऐसे घूमता रहता है फिर हम उसे सिखाना शुरू करते हैं और खोज ये कहती है कि पचास प्रतिशत वो सीख ही चुका है वो आधे आधा ज्ञान तो उसको उपलब्ध हो चुका है और ध्यान रहे जो ज्ञान सीख लिया चार चार वर्ष की उम्र में उसके विपरीत कुछ भी सिखाना बहुत कठिन है उससे भिन्न कुछ भी सिखाना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो चार वर्ष में जितनी रिसेप्टिविटी है उतनी फिर कभी नहीं हो चार वर्ष में जो पकड़ लिया गया वो जिंदगी का आधार बनेगा बाद में उसी पे आप ऊपर रख सकते और चार वर्ष तो फिजूल खो जाते हैं इस वक्त जो सोचते हैं वो चिंतित हैं कि शिक्षा और जल्दी और जल्दी शुरू करनी पड़े वो दो वर्ष में शुरू करनी पड़े कि एक वर्ष में शुरू करनी पड़े बहुत कठिन नहीं कि बहुत जल्द हम इस ख्याल पर पहुंचे कि मां के गर्भ को भी क्यों अशिक्षित छोड़ा जाए कुछ रास्ते खोजे जा सकते हैं कि मां के गर्भ से शिक्षा शुरू हो जाए बराबर खोजे जा सकते हैं निश्चित खोजे जा सकते और कुछ तो इस संबंध में काम शुरू हुआ है क्योंकि माँ के गर्भ में भी बच्चा सीख रहा है ऐसा नहीं कि नहीं सीख रहा है जहां चेतना है वहां सीखना शुरू हो गया वो सीख रहा है वो निरंतर सीख रहा है माँ के पेट में अगर माँ बीमार है तो बच्चा बीमारी सीख रहा है अगर माँ स्वस्थ है तो बच्चा स्वास्थ्य सीख रहा है और अगर माँ भूखी है तो बच्चा गरीबी सीख रहा है और माँ का पेट अगर भरा है तो अमीर सीखा वो मां के पेट में सीखना शुरू हो गया उस कभी ध्यान देना पड़ेगा इधर बचपन सिकुड़ता चला जाएगा फिर एक और नई घटना घटी है कि ज्ञान इतना बढ़ गया है कि हम 25 साल भी अगर लड़कों को यूनिवर्सिटी में रखें तो पूरा ज्ञान नहीं दिया जाए पुराना ज्ञान बहुत कम इतना कम था जिसका कोई हिसाब नहीं अगर 2000 साल पहले का हम ज्ञान लें तो वो एक छोटी सी किताब में समा सकता है और एक आदमी मजे से उसका मास्टर हो सकता है सच तो यह है कि पुरानी दुनिया में एक आदमी सारे ज्ञान का मालिक हो जाता था जो कभी होता था वही वैद्य भी होता था जो गांव का ब्राह्मण होता था वही शिक्षक भी होता था जो पुजारी था वही शिक्षक भी था वैद्य भी था असल में जो आदमी थोड़ा समझ सकता था वो सभी पकड़ लेता था एक ही सब्जेक्ट था दुनिया में फिलोसफी कोई सब्जेक्ट दूसरा ना था एक ही सब्जेक्ट अभी भी पुरानी आदत चलती है ऑक्सफोर्ड में फिजिक्स डिपार्टमेंट के ऊपर अभी भी नेचुरल फिलोसफी की तख्ती लगी हुई वो पुरानी आदत है फिलोसफी एक सब्जेक्ट आज भी हम आप कॉमर्स में डॉक्टरेट करें और डिग्री मिलेगी पीएचडी की डॉक्टर ऑफ फिलोसफी अब कॉमर्स से फिलोसफी का क्या लेना देना अब कोई लेना देना नहीं है पुरानी आदत हजार साल पहले फिलोसफी एक ही विषय एक ही विषय सब कुछ घेर लेता था फिर ज्ञान बढ़ता चला गया अब ज्ञान इतना है कि हैरानी की बात है एक दिन एक डॉक्टर पूरे शरीर के संबंध में सब कुछ जानता है फिर हमें कई डॉक्टर बनाने पड़े आंख का डॉक्टर अलग शरीर का डॉक्टर अलग पेट का डॉक्टर अलग हमको बांटना पड़ा मैं एक मजाक सुन रहा मैं सुन रहा था कि आज से पचास साल बाद एक औरत एक डॉक्टर के दफ्तर में गई एक आंख के विशेषज्ञ के दफ्तर में और उसने कहा कि मेरी आंख में बड़ी तकलीफ उस विशेषज्ञ ने पूछा देवी कौन सी आंख में क्योंकि मैं बाई आंख का स्पेशलिस्ट दाई आंख का स्पेशलिस्ट आ ये बहुत कठिन नहीं है क्योंकि आज आंख के संबंध में इतनी किताबें हैं कि एक आदमी जिंदगी भर पढ़े तो नहीं पढ़ सकता सिर्फ आंख के संबंध में इतना ज्ञान विकसित हुआ है आंख छोटी चीज नहीं आंख बहुत बड़ी घटना इतनी बड़ी घटना है कि जिसका कोई हिसाब नहीं आंख की पूरी वर्किंग को समझना इतना बड़ा मामला है कि एक आदमी पूरी जिंदगी लगाए तो नहीं समझ सकता इसलिए शिक्षा शास्त्री के सामने एक नया सवाल है कि जितना ज्ञान पुरानी पीढ़ी ने पैदा कर लिया वो नई पीढ़ी को कैसे दिया जाए इसलिए रूस में एक नया ख्याल आया है वह स्लीप टीचिंग का बच्चों को रात में सोते में भी शिक्षा देनी पड़ेगी अन्यथा कोई उपाय नहीं रात में जब बच्चा सो रहा है उसके सोने को ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता तो टेप रिकॉर्डर कान में लगा रहेगा पिलो के पास और रात भर धीरे धीरे उसे शिक्षित करता रहेगा क्योंकि तब हम रात भी शिक्षा दे तो ही हम पुराने सदी का ज्ञान उसको सौंप पाएंगे नहीं तो नहीं सौंप पाएंगे युवक की उम्र लंबी हो जाएगी और शिक्षा का काल भी बढ़ाना पड़ेगा शिक्षा का काल भी काफी नहीं रहेगा इसलिए नए सवाल सामने और उन नए सवालों से जूझने के लिए नए विचारों को खोजना पड़ेगा लेकिन हम और हमारी शिक्षा तो बहुत पीछे जी रही है हम बीसवीं सदी में नहीं हमारा बीसवीं सदी से कोई संबंध नहीं है हमारा शिक्षक एकदम आउट ऑफ डेट क्योंकि शिक्षक जब पढ़ा था समझ लीजिए शिक्षक 1930 में पढ़ा था फिर 1930 के बाद उसने किताब नहीं उठाई आप वो 1930 पे रुक गया है और वो वही 1930 में जो उसने पढ़ा था पढ़ाए चला जा रहा है उसने जो नोट्स 1930 में बनाए थे वो अब भी उसके लेक्चर के नोट्स हैं उन्हीं से काम ले रहा है इधर 30 साल में दुनिया बदल गई है इधर 30 साल में सब बदल गया है तीस साल पहले जो भी अर्थपूर्ण था आज अर्थहीन हो गया लेकिन वो उसे पता नहीं इसलिए हमारी शिक्षा बहुत पिछड़ी हुई है सारी दुनिया में पिछड़ी हुई हम दुनिया के साथ खड़े हुए नहीं इसका मतलब यह हुआ कि शिक्षक को अब 24 घंटे शिक्षित होना पड़ेगा अब ऐसा नहीं हो सकता कि एक दफे आप शिक्षित हो गए और शिक्षक हो गए अब शिक्षक को निरंतर विद्यार्थी बना रहना पड़ेगा विद्यार्थी से भी ज्यादा उसे 24 घंटे जागा हुआ समझा हुआ होना पड़ेगा क्या हो रहा है मैं भी देख रहा था पश्चिम में बड़ी किताब लिखनी मुश्किल हो गई है साइंस पर तो बड़ी किताबें नहीं लिखी जा रही छोटे छोटी किताबें लिखी जा रही तो मैंने एक मित्र को लिख के पूछा कि बात क्या है बड़ी किताब क्यों नहीं लिखी जाती उन्होंने मुझे लिखा कि कारण यह है कि बड़ी किताब लिखने में दो वर्ष लग जाते हैं दो वर्ष में जो लिखा वो बेकार हो महीने भर में किताब पूरी होनी चाहिए नहीं तो किताब लिखे जाने के पहले ही व्यर्थ हो जाएगी इतने जोर से रिसर्च है इतने जोर से अन्वेषण है इतनी दिशाओं में खोज चल रही है पांच हजार ग्रंथ प्रति सप्ताह नए प्रकाशित हो रहे हैं पांच हजार ग्रंथ प्रति सप्ताह नए प्रकाशित हो इसका मतलब क्या है इसका मतलब होता है ज्ञान पूर्व की तरह आकाश से टूट रहा है चारों तरफ से उसे संभालना मुश्किल है हमें कोई दिक्कत नहीं क्योंकि हम आंख बंद किए खड़े हमें कोई कठिनाई नहीं हम बड़े निश्चिंत बैठे हुए हमें कुछ पता नहीं कि सारी दुनिया में क्या हो रहा है और हम इस तरह की बातें कर रहे हैं कि जो हमें और सारी दुनिया से तोड़ने वाली सिद्ध होती है जोड़ने वाली सिद्ध नहीं होती शिक्षक को निरंतर शिक्षित होना पड़ेगा अब पुराने ढंग से काम नहीं कर सकता शिक्षा कभी पूरी नहीं हो जाती और शिक्षक को अपने विद्यार्थी को भी इस भांति तैयार करना होगा कि वो ये ना समझे कि किसी दिन शिक्षा पूरी हो जाती अब किसी डिग्री पर शिक्षा पूरी नहीं हो सकती अब शिक्षा पूरी हो ही नहीं सकती अब तो आदमी को निरंतर शिक्षित होना ही पड़ेगा उसे 24 घंटे मरने की आखिरी घड़ी तक शिक्षित होना पड़ेगा रोज ज्ञान का नया एक्सप्लोजन होता चला जाएगा इसलिए विश्वविद्यालय सिर्फ आप आगे भी कैसे शिक्षित होते रहे इसकी तैयारी करवा दें तो काफी है आपको शिक्षित बना के ना निकाले अब आपको शिक्षित बना के निकालना महंगा अब ये भ्रम पैदा नहीं होना चाहिए कि एक लड़के को एम की डिग्री मिल गई तो वो शिक्षित हो गया और वो अपनी डिग्री लेके चला गया दुनिया में शिक्षित होने की हैसियत नहीं अब विश्वविद्यालय को समझाना पड़ेगा कि कोई डिग्री शिक्षा पूरी नहीं करती डिग्री सिर्फ इतना कहती है कि अब कृपा करके इन दीवारों के बाहर जाके शिक्षित हूं अब यहाँ यहाँ काम पूरा हुआ अब आप बाहर जाए डिग्री सिर्फ इतना कहती है कि आप बिना शिक्षक के शिक्षित हो अभी तक शिक्षक आपको साथ देता था अब शिक्षक आपके साथ नहीं होगा अब आप ही शिक्षक होंगे और आप ही शिक्षार्थी होंगे डिग्री सिर्फ इतना कहेगी आप जाए और शिक्षित हों ये भ्रम हमें छोड़ देना पड़ेगा कि डिग्री से कोई शिक्षित हो जाता तो हम जिंदगी को एक ओपनिंग और एक खुलापन दे पाएंगे और बहुत जरूरी हो गया कि मन खुला रोज शिक्षित होने को तैयार हो रोज नया होता चला जा रहा है कठिन होता है नए को सीखना इसलिए कठिन होता है कि पुराने की आदत बन गई होती है और पुराना ढांचा बन गया होता है आदमी तो आदमी है अगर हम एक कमरे में एक बाल्टी पानी डाल दे तो पानी एक रास्ता बना के बह जाता है फिर थोड़ी देर में सूख जाता है पानी चला गया एक सूखी रेखा छूट जाती है अगर आप दोबारा पानी डालें तो वो पानी उसी सूखी रेखा को पकड़ के बहना चाहेगा वो भी लीस्ट रेजिस्टेंस को खोजेगा वो भी सोचेगा कि यही रास्ता अच्छा है बना बनाया है पहले से तैयार है इस पर बह जाओ मन भी यही करता है जो तैयार है उस पर ही पहचानने की कोशिश करता है वो सरल है उसमें झंझट नहीं प्रतिरोध नहीं लेकिन अब हमें ऐसा मन तैयार करना पड़ेगा जो रोज नए रास्ते पर बहने को तैयार हो क्योंकि रोज नया रास्ता निर्मित हो रहा है अगर आप नहीं बहे तो रास्ता नहीं रुकेगा रास्ता तो बढ़ता चला जाएगा जो तैयार होंगे नए रास्ते पर जाने को वे जीत पे चले जाएंगे और जो तैयार नहीं होंगे वे हार पे चले जाएंगे इस देश के निरंतर पराजय का एक कारण व्यक्ति है ये मैं अंतिम बात करना चाहूंगा हम कोई दो हजार साल से निरंतर हार रहे हैं कोई समझता होगा कि ये हार हमारे विजेताओं की ताकत की कमी मैं नहीं समझता कोई सोचता हो कि पौरुष कमजोर था सिकंदर से तो गलत है और कोई सोचता हो कि मुसलमान इस मुल्क में जब आए हमलावर की तरह तो इस मुल्क के करने वाले कमजोर थे तो गलत और कोई सोचता हो कि अंग्रेजों ने हमें हराया तो अंग्रेज बड़े शक्तिशाली थे हम बहुत कमजोर थे तो गलत नहीं हमारी कुल कमी 2000 वर्ष से एक है और वो ये है कि हम नए रास्ते पकड़ने में करीब करीब असमर्थ हो गए हम पुराना रास्ता पकड़े रहते हैं दूसरे लोग नए रास्ते पकड़ के आ जाते हैं और हमें हार जाना पड़ता है सिकंदर आया घोड़ों पर सवार हो गए हम हाथियों पर बैठे थे तो हम हाथियों पर ही बैठे रहे हमने सोचा भी ना कि घोड़ों से हाथी कैसे जीत सकते गौरव सिकंदर से जीत सकता था लेकिन हाथी घोड़ों से नहीं जीत सकते हाथी बारात वगैरह के लिए बड़े अच्छे बारात निकलती हाथी बड़ा शानदार जानवर लेकिन युद्ध के लिए हाथी बिल्कुल ही बेमानी है लेकिन हम हाथियों पे लड़ते रहे थे तो जब तक आपस में लड़ते थे तब तक कोई दिक्कत ना थी क्योंकि दूसरी तरफ से भी हाथी पर लड़ने वाला था हम भी हाथी पर लड़ने वाले थे कभी झंझट ना आई थी पहली तरफ तो झंझट आई कि सिकंदर घोड़े पर सवार होकर आ गया घोड़ा ज्यादा तेज जानवर चंचल गतिमान थोड़ी जगह घेरता है जल्दी घूमता है जल्दी भागता है बचता है बचाव करता है हाथी बहुत शाही जानवर धीरे घूमता है धीरे चलता है और अगर घबरा जाए तो अपनों को ही रोन डालता है और यही हुआ पौरस की सेनाएं पौरस के ही हाथियों के पैरों के नीचे मरी लेकिन हम सीख ना पाए हम समझ ना पाए कि ये ये नया रास्ता लेकर आया घोड़े पर जो लड़ने आया फिर बाबर हिंदुस्तान आया तो हम तलवार तीर तक से लड़ते रहे वो बंदूक लेके आ गए बंदूक नई चीज तलवार कितने ही बहादुर के हाथ में हो बंदूक एक कमजोर आदमी के भी हाथ में हो तो तलवार वाला बंदूक से नहीं जीत सकता क्योंकि तो बंदूक ने एक नई खोज कर ली वो है डिस्टेंस से दूरी से हमला करने की जो तलवार में असंभव तलवार के लिए फासला कम चाहिए आप मेरे करीब हो तो मैं तलवार से लड़ सकता हूं लेकिन अगर आप मुझसे दूर हैं तो तलवार बेमानी है बंदूक की खोज ये थी कि हम दूर से हमला कर सकते तलवार हार गई बंदूक जीत गई हमने मुश्किल से बंदूक सीख पाए तब तक अंग्रेज आ गए वो तोपे लेके आ गए हम फिर बंदूक लिए हुए खड़े हम 2000 साल से दुनिया के आंखों में शिक्षा में पीछे हैं हर स्थिति में पीछे हम पुराने को पकड़ लेते हैं और जब नया आता तब हम मुश्किल में पड़ जाए तब हम चौंक जाते हमारी को तो समझ में नहीं आता कि हम क्या करें अब अभी भी हमारा सैनिक जो है वो लेफ्ट राइट कर रहा है अभी भी अब उसे पता नहीं जब लेफ्ट राइट का वक्त गया अब उसका कोई मतलब नहीं अब युद्ध जमीन पर नहीं है अब युद्ध आकाश पर है सच तो यह है कि अब युद्ध बहुत और तरह का है अब युद्ध बिल्कुल ही टेक्नोलॉजिकल है अब युद्ध का कोई संबंध आदमी से नहीं अब बटन दबाने से युद्ध हो सकता है आदमी तो मैदान से हट गया हम आदमी को ट्रेन कर रहे हैं वो आदमी बेमानी हो जाएगा अब आदमी का कोई संबंध ही नहीं है अब युद्ध का माप ही बदल गया अब युद्ध है टेक्निक का कौन टेक्निक में विकसित है वो जीतेगा अब आदमी आदमी से कुछ लेना देना नहीं क्योंकि कमजोर से कमजोर आदमी एक कमरे में बैठ के बटनों से लड़ सकता है आप कितनी ताकतवर हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हम पीछे हैं 2000 वर्ष से शिक्षा में मैं ये कह रहा हूं हम नए को पकड़ने में बड़े असमर्थ इनकेपेबल सिद्ध हुए अपात्र सिद्ध हुए और अगर नए को पकड़ते भी हैं तो बड़ी मुश्किल में मजबूरी में परेशानी में जब कोई रास्ता नहीं रह जाता तब नहीं जब कोई रास्ता नहीं रह जाता तब हम नए को पकड़ते हैं उसका मतलब तब तक नया पुराना हो चुका होता है और दूसरे लोग और नए पर निकल गए होते हैं फिर हम अपने को बामुश्किल राजी कर पाते हैं फिर वही तकलीफ खड़ी हो जाती है हमें नए का स्वागत करना पड़ेगा पुराने को छोड़ने की हिम्मत और नए को तत्काल अंगीकार करने का साहस जुटाना पड़ेगा तो हम इस पृथ्वी पर खड़े हो सकेंगे शिक्षित सुसंस्कृत सब अन्यथा हमारा अब आगे कोई इतिहास नहीं हो सकता ऐसे पीछे भी जो इतिहास है उसे इतिहास कहना उचित नहीं वो भी सिवाय दीनता दुख दरिद्रता दास्ता के और क्या है वो भी पीछे का इतिहास सिवाय अपमान के और क्या है वो पीछे का इतिहास भी सिवाय घावों के और क्या है हमारी छाती पर लेकिन आगे शायद वो भी ना हो हम एकदम दुनिया की दौड़ में रास्ते के किनारे खड़े रह गए सिर्फ लोगों के पैरों की धूल हमें मिल पाती है जो जा रहे और हम किनारे खड़े देख रहे बहुत दिन से हम सोचते थे हम तमाश हो गए हम किनारे खड़े देख रहे हम पार्टिसिपेंट नहीं है आज पृथ्वी पर आज जगत के विकास में हमारा कोई दान नहीं है आज हम जगत के विकास के भागीदार नहीं है और ध्यान रहे जो जगत के विकास में भागीदार बनता है वही अंतता और विजेता बन जाता है जो जगत को विकास देता है वो जीत जाता है जो किनारे खड़ा हो जाता है वो हार जाता है पराजित हो जाता है शिक्षक के सामने ये सवाल भी है कि हम भारत में 2000 साल में जो भूल की है उसे 50 साल में पूरा करना पड़ेगा बड़ी तीव्र गति से पूरा करना पड़ेगा अगर हम 50 साल में पूरा नहीं करते तो हम चूक ही जाएंगे जैसे हम चूक ही जाएंगे हम खड़े न हो पाएंगे दुनिया के सामने क्या इतनी बड़ी जिम्मेदारी शिक्षा लेने को तैयार मुश्किल दिखाई पड़ता है क्योंकि शिक्षक लगा है इलेक्शन में वो कह रहा है कि मैं भाई शर्ट कैसे हो जाओ प्रोफेसर तो तो परेशानी में है जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कैसे हो जाए उसकी अपनी पॉलिटिक्स है वो उसमें लगा हुआ है वो वहां चक्कर खा रहा है कुछ थोड़ा बहुत वक्त बच जाता है तो वो पढ़ा देता है ऐसे उससे कोई खास संबंध नहीं है वो कोई खास बात नहीं है वो वहां संलग्न है शिक्षक कहीं और उलझा है विद्यार्थी के पास अतिरिक्त शक्ति है वो अपनी शक्ति से परेशान वो लड़कियों को धक्के दे रहा है पत्थर मार रहा है उसे कोई मतलब नहीं मौका बच जाता है लड़कियों से कुछ छोड़ के तो थोड़ा बहुत पढ़ लेता है बाकी उसे उससे कोई मतलब नहीं बल्कि अगर लड़कियों हो क्लास में तो ही थोड़ा बहुत पढ़ लेता है अगर लड़कियां क्लास में ना हो तो क्लास में ही नहीं लौटता ये हमारा शिक्षक और विद्यार्थी जहां खड़ा है वह हम आशा नहीं बांध सकते कि पूरा हम जगत के 2000 साल पिछड़ गए हैं हम 50 साल में उसे कैसे पूरा करेंगे लेकिन पूरा हम कर सकते हैं थोड़े बोध की जरूरत है थोड़ी समझ की जरूरत है थोड़े इस कॉन्सेप्ट की जरूरत है कि हम इतिहास के किस बिंदु पर आकर खड़े हो गए और सारा जगत किस जोर से भागा जा रहा है हम उसके साथ अगर एक दफा हमें बोध आ जाए तो हम गतिमान हो सकते मेरी समझ में आज शिक्षक के ऊपर जितना बड़ा दायित्व है इतना किसी के ऊपर नहीं और शिक्षक को जितना बड़ा रोल अदा करना है उतना किसी को नहीं करना है इस संक्रमण की कड़ी में शिक्षा ही वो माध्यम बन सकती है जिससे हम दुनिया के साथ खड़े होने में समर्थ हो सके शिक्षक को राजनीतिक से थोड़ा बचना पड़ेगा शिक्षक को राजनीति से थोड़ा बचना पड़ेगा और शिक्षक को उपदेश छोड़ के विद्यार्थी की मनोदशा को समझने के लिए नीचे उतरना पड़ेगा और समझना पड़ेगा उसकी मनोदशा क्या है उसकी आंतरिक पीड़ा और तकलीफ क्या है उसकी अतिरिक्त शक्ति के बहाव का ये उपद्रव क्या है ये उसे समझना पड़ेगा लेकिन वो अपने मंच पर खड़े होकर पुराने उपदेश दिए जाता है कि अनुशासन होना चाहिए गुरु का आदर होना चाहिए ये उपदेश अब कोई भी नहीं सुन रहा न सुने जा सकते क्योंकि एक नई घटना एक यंगर जनरेशन पैदा हुई जो कभी पहले थी ही नहीं इस नई नए फेनोमिना को इस नई घटना को पूरा समझ के इसकी अतिरिक्त शक्ति के सब्लिमेशन के उपाय खोज कर और इस नई शक्ति को भविष्य उन्मुख बनाकर एक क्रांति घटित हो सकती वो क्रांति बहुत जरूरी है बहुत तरह की क्रांतियां हो रही हैं आर्थिक क्रांति होगी सामाजिक क्रांति होगी राजनीतिक क्रांति होगी लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ बुनियादी क्रांति सदा शिक्षा की क्रांति है बाकी सब क्रांतियां परिधि पर केंद्रीय क्रांति शिक्षा की क्रांति है और अगर ये क्रांति का मिशन शिक्षक के ख्याल में आ जाए तो शायद हमारा भी अस्त हुआ सूर्य फिर उदय हो सकता है ये थोड़ी सी बातें मैंने कही इस आशा में कि शायद इससे थोड़ा धक्का लगे और आप सोचने की यात्रा पर निकल जाए उससे ज्यादा प्रयोजन नहीं है मैं जो कहता हूँ वो सही है ऐसा नहीं मैं जो कहता हूँ वो आपको सोचने में संलग्न कर दे तो मेरा काम पूरा हो जाए कई बार मुझे लगता है कि चाहे मेरी बात गलत ही क्यों ना हो अगर आपको सोचने की दिशा में ले जाती है तो मैं उसे कहता रहूंगा और बात सही ही क्यों ना हो अगर आपको सोचने की दिशा में नहीं ले जाती और मुर्दा हाँ भरवा देती है तो मैं उससे नहीं कहूंगा देश में एक चिंतन की जरूरत है मेरी बातों को इतनी शांति और प्रेम से सुना उससे बहुत अनुग्रीत हूँ और अंत में सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता मेरे प्रणाम स्वीकार